परम पिता परमात्मा का स्मरण करुणा स्वरूप करुणा कर परमात्मा प्रणवध्वनी ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा को बहुत सारे विशेषण वेद में दिए गए और महर्षि दयानंद ने बहुत सारे संबोधन परमात्मा के लिए दिए स्वयं परमात्मा के प्रति वो इस प्रकार के संबोधन करते होंगे उन संबोधनों में से एक संबोधन हे करुणा कर अस्मत पिता रुकिए इसको तो परमात्मा को संबोधित किया हे करुणा कर अस्मत् पिता करुणा को करने वाले अस्मत हमारे पिता पिता यज्ञ प्रार्थना में भी हम बोलते हैं नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे हे करुणा रूप आपकी करुणा हम सब पर रहे परमात्मा को करुणा सागर बोलते हैं उसमें करुणा भरी हुई है करुणा शब्द का क्या अर्थ है करुणा हम किनके प्रति करते हैं तो करुणा को दूसरे शब्दों में दया कहा जाता है करुणा करना यानी दया करना तो करुणा का मतलब है दया जो दुखियों के प्रति की जाती है करुणा हम दुखियों के प्रति करते हैं और करुणा करने वाला अपने को उस प्रकार का दुखी नहीं समझता उस स्थिति में रहता है और जब करुणा का अर्थ हम दया लेते हैं वो भी किसी दुखी के प्रति की जाती है और दया का प्रयोग हम न्याय के समय करते हैं न्यायाधीश से हम दया की प्रार्थना करते हैं वहां दया का मतलब हम लेते हैं क्षमा वहां भी हम किसी दुख से बचने के लिए ये प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परम पिता परमात्मा करुणा कर है हमारे प्रति करुणा करता है दया करता है परमात्मा जानता है कि हमारे क्या दुख हैं करुणा दुखी के प्रति की जाती है परमात्मा को हमारे दुखों का ज्ञान है आत्मा किन से दुखी होता है ये उसे पता है किन स्थितियों में उसे दुख होता है परमात्मा इस भावना से हम लोगों के प्रति प्रवृत्त होता है कि इनका हित हो करुणा के भाव से युक्त होकर के वो हमारे साथ व्यवहार करता है हम अपने जीवन में दुख अनुभव करते हैं कितना भी सुखी हो फिर भी दुख अनुभव होता है जितना दुख हम अनुभव करते हैं वह है और जितना दुख होते हुए भी हम अनुभव नहीं करते उसे भी परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं अनेक बार हम बहुत से दुखों को दुख स्वीकार ही नहीं करते क्योंकि हमें उससे ऊंची अच्छी स्थिति का पता ही नहीं होता उसे ही हम अपने लिए ठीक मान लेते हैं या उससे कोई हम छूट नहीं सकते अच्छी स्थिति पा नहीं सकते इसलिए हम उसके साथ में समझौता कर लेते हैं लेकिन परमात्मा हमारे समस्त दुखों को जानता है जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते और परमात्मा ने जितनी व्यवस्था की है वो सारी हमारे ऊपर करुणा रूप ही है जब हम ईश्वर को न्यायकारी समझते हैं स्वीकार करते हैं परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है तो हम परमात्मा को एक न्यायाधीश के रूप में देखने लगते हैं एक राजा के रूप में देखने लगते हैं जो संसार में न्यायाधीश और राजा दिखाई देते हैं अब संसार में जो न्यायाधीश दिखाई देता है उसमें हमें करुणा तो दिखाई नहीं देती प्राय नहीं दिखाई देती जो हमारा निर्णय करता है फैसला सुनाता है ये उचित है ये अनुचित है नियमों के अनुसार वो निर्णय कर देता है नियमों के अनुसार उसको ये दंड मिलना है इसको ये क्षतिपूर्ति मिलनी है न्याय का मतलब हम ये समझते हैं और वो हमारे मन में बहुत गहरे बैठा हुआ रहता है जब न्यायाधीश न्याय करता है तो जो पीड़ित है उसको न्याय मिलता है वो तो न्यायाधीश के प्रति कुछ अच्छे भाव रख सकता है रखता है लेकिन जो अपराधी था जिसको दंड मिला वो न्यायाधीश के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है न्यायाधीश ने मेरे पर कोई दया की है कोई करुणा की है मेरा हित किया है ऐसा बिरला ही कोई अपराधी सोचता हो नहीं तो नहीं सोचते ऐसा ही हम देखते हैं और ऐसा ही हम अपने बारे में समझते हैं न्यायाधीश की छोड़ दीजिए छोटे से विद्यालय में यदि किसी विद्यार्थी को अध्यापक दंड देता है किसी दूसरे विद्यार्थी ने अन्य विद्यार्थी के दोष को अध्यापक तक पहुंचा दिया और अध्यापक दंड देता है तो जो दंड लेता है वो अध्यापक के प्रति ये भाव नहीं रखता कि इसने मेरे पर करुणा की है या दया की है वो एक आक्रामक स्थिति में उसे देखता है ये मेरे लिए कुछ हानि कर रहा है जिसने मेरी सूचना दी दोष की उसको वो चुगली समझता है दोष समझता है अर्थात न्याय का संबंध हम करुणा और दया के साथ में प्राय नहीं देखते हैं और जब परमात्मा को न्यायाधीश समझते हैं वो हमारे कर्मों का फल दे रहा है तो उसके साथ करुणा को हम नहीं देख पाते परमात्मा हमारे पुण्य कर्मों का फल देता है उसमें उसके प्रति कृतज्ञता तो अनुभव करते हैं उसने हमें दिया लेकिन करुणा का भाव नहीं और जो दंड देता है पाप कर्मों का उसके प्रति तो करुणा का भाव हमारे मन में प्राय नहीं होता है तो परमात्मा को यहां संबोधन दिया हे करुणा कर करुणा को करने वाले दया को करने वाले अब यदि परमात्मा करुणा को करने वाला है तो उसके प्रत्येक कर्म में करुणा का भाव रहेगा हम उसके जिन कर्मों में करुणा नहीं देख रहे हैं उन सब कर्मों में परमात्मा की करुणा तो विद्यमान है दया तो विद्यमान है परमात्मा को न्यायकारी मानते हुए उसको करुणा करने वाला भी माने तो परमात्मा के प्रति समुचित दृष्टिकोण हमारा बन पाएगा करुणा का एक अर्थ हुआ दया और इससे दो बातें हम ले सकते हैं एक तो हम उस स्थिति में हैं कि परमात्मा हमारे पर करुणा कर रहा है जब हम परमात्मा को करुणा कर बोल रहे हैं इसका मतलब है हम करुणा के योग्य हैं हमारी ऐसी स्थिति है कि हम दया के पात्र हैं लेकिन ये दया का पात्र होना करुणा का पात्र होना कोई दीनहीन अवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए अपमान के रूप में नहीं एक वास्तविकता है कि हम परमात्मा के दिए साधनों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं ये हमें जो गर्व होता है शरीर के माध्यम से प्रकृति के साधनों से हम इतना इतना कुछ कर लेते हैं और वो सारी सामर्थ्य हम अपनी समझते हैं इसमें परमात्मा की कहां आवश्यकता है लेकिन जब हम अपने स्वरूप को जान करके अपनी सामर्थ्य को देखते हैं तो लगता है नहीं परमात्मा ने ये दिया है तो परमात्मा का सहयोग है और मेरी जो अल्पज्यता है अल्प शक्ति है विवशता है बेबसी है कि मैं स्वयं अपनी उन्नति नहीं कर सकता बिना इन साधनों के मैं कर्म नहीं कर सकता ये बहुत बड़ा दुख है हमारा ये हमारा ऐसी ही स्थिति है ये हमारी दिनहीन अवस्था है जब हम किसी विकलांग को देख करके उसके प्रति करुणा का भाव लाते हैं दया का भाव लाते हैं कि चल नहीं सकता ये बोल नहीं सकता इसकी मंद बुद्धि है एक भाव उभरता है उसकी अल्प शक्ति को देख करके उसकी निर्धनता को देख करके उसकी असहाय स्थिति को देख करके तो जो दुखी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में करुणा और दया का भाव होता है उसमें सब जगह उसकी अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य हमें दिखाई देती है उसकी अपेक्षा हमें अपने पास में बल शक्ति सामर्थ्य धन अधिक दिखाई देते होता है वो तो जो दुखी के प्रति करुणा और दया का भाव है तो वहां ये बात जुड़ी है अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य और वो व्यक्ति दुखी इसीलिए प्रतीत हो रहा है हमें क्योंकि वो अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य वाला है वो अपनी बाधाओं को दूर नहीं कर पा रहा है वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है तभी तो उसके प्रति हमें करुणा और दया आती है और हम सहयोग के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं तो जब साधक अपने स्वरूप को देखता है आत्मा के तो वो अपनी सामर्थ्य को बहुत अल्प पाता है असमर्थ पाता है अपने को असहाय पाता है और यही हमारी दुखद स्थिति है उत्साह के लिए ये एक अलग बात कही जाती है कि हमारी बहुत सामर्थ्य है हम बहुत कुछ कर सकते हैं आत्मा की बहुत सामर्थ्य है हम बहुत बड़े बड़े परोपकार कर सकते हैं हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम बहुत साधन इकट्ठे कर सकते हैं लोगों को बहुत दिशा दे सकते हैं इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं लेकिन ये सारी बड़ी बातें कर सकने की सामर्थ्य मात्र आत्मा की नहीं है ये व्यवहार की दृष्टि से कथन ठीक है लेकिन परमात्मा के दिए साधन बुद्धि के बाद में हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमात्मा इस दृष्टि से हमें नहीं देखेगा कि ये आत्मा बहुत कुछ कर सकता है स्वयं अपने आप इस आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है ये अपने लिए सब कुछ कर सकता है परमात्मा इस दृष्टि से आत्मा को नहीं देखता है क्योंकि आत्मा ऐसी है ही नहीं ये वास्तविकता है कि हमारी अल्प शक्ति है तो ऐसे में परमात्मा की हमारे प्रति करुणा की दृष्टि दया की दृष्टि होती है और जब व्यक्ति करुणा और दया से युक्त होता है तो जिसके प्रति करुणा और दया का भाव होता है उसकी हानि का भाव उसकी हानि करने का भाव मन में बिल्कुल नहीं होता है यदि हानि करने का भाव हो तो उसे करुणा और दया कह ही नहीं सकते करुणा और दया का भाव होता है हम दूसरे के लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए ये अलग अलग शक्ति सामर्थ्य पे निर्भर करता है या सामने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है करुणा दया का भाव होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते लेकिन भावना के स्तर पर भी उसकी हानि का विचार तो मन में नहीं आएगा उसके हित की कामना मन में रहेगी उसे ही हम करुणा और दया कहते हैं तो परमात्मा हमारे प्रति जो करता है चूंकि वो करुणा से युक्त है करुणा को करने वाला है दया को करने वाला है तो उसमें हमारे प्रति हानि करने का लेश भी भाव नहीं है तो हित ही हित करना चाहता है और ये विश्वास परमात्मा के प्रति होना आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत बड़ी बात है हमें जब ये पूरा विश्वास हो जाता है कि परमात्मा अहित नहीं कर सकता और परमात्मा के रहते मेरा अहित हो नहीं सकता तो परमात्मा तो जो कुछ कर रहा है वो करुणा के वशीभूत होके कर रहा है वो सामान्य न्यायाधीश की तरह से नियमों में विवश नहीं है कि उसे ये करना ही है वो करुणा के वशीभूत होकर के कर रहे जैसे हम न्यायाधीश को दंड देते समय करुणा के रूप में नहीं देखते ऐसे परमात्मा को भी जब नहीं देखते क्योंकि उसमें हमें कुछ दुख कष्ट होता है लेकिन परमात्मा हम सबके लिए करुणा करने वाला है इसलिए महर्षि ने लिखा अस्मत् पिता हम सबका पिता तो वो न केवल मेरा पिता है वो अन्यों का भी पिता है परमात्मा को करुणा कर समझने के साथ हमें ये भी समझना है कि वो हम सबका पिता है मेरा तो पिता है ही लेकिन अस्मत् पिता हम सबका पिता है जब साधक एकांगी रूप में परमात्मा को अपना पिता समझता है तो बहुत भाव उठेंगे परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति भी प्रतीत होगी लेकिन जब एकांगी रूप में देखते हैं तो अनेक गलत भावना भी गलत विचार भी हमारे मन में आ जाते हैं और परमात्मा की समस्त कृपा पिता की समस्त कृपा को जैसे हम अपने लिए ही चाहने लग जाते हैं परमात्मा पिता है मैं पुत्र हूं तो मेरे को सब कुछ मिले जब कोई बच्चा अपने पिता को केवल अपना पिता समझने लगता है तो वो अपने अन्य भाइयों के प्रति पिता के किए गए व्यवहार को अनुचित भी समझने लगता है और वो अधिक से अधिक अपने लिए चाहने लग जाता है तो जब परमात्मा को हम करुणा कर कह रहे हैं तो हम सब का वो पिता है और ऐसे में जब वो हमारे दोष का दंड देता है हमारे साथ न्याय करता है तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि परमात्मा सबका पिता है और सबके लिए करुणा कर है यदि हमारे द्वारा किसी के प्रति गलत व्यवहार हुआ है और उसका वो दंड दे रहा है तो उसके लिए उचित है क्योंकि वो अन्यों का भी पिता है अन्यों के लिए भी करुणा करने वाला है करुणा शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है ये शब्द संस्कृत के क्री विक्षेप धातु से बना है तो किरति विक्षिपति दुर्गुणान इति करुणा करुणा वाला कौन है जो फेंकता है विक्षेप करता है विक्षिपति दूर फेंक देता है किसको दूर फेंकता है तो महर्षि ने उणादि कोश में ये इसको खोला किरति विक्षिपति दुर्गुणान इति करुणा परमात्मा हमारे दुर्गुणों को दूर फेंकता है इसलिए वो करुणाकर है परमात्मा की जितनी व्यवस्था है एक तरफ वो हमारी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए साधनों को देने के रूप में है दूसरी तरफ उन साधनों को दे करके वो हमारे दुर्गुणों को भी दूर करने में लगा है उसने व्यवस्थाएं ही ऐसी बना रखी हैं कि हमारे दुर्गुण दूर हों प्रथम दृष्टया हम ऐसा विचार लेते हैं कि परमात्मा दुर्गुणों को दूर करता है अर्थात हमारे दुर्गुण को पकड़ करके हमारे से बाहर निकाल देता है वो स्वयं करने वाला है परमात्मा दूर करता है हमें कुछ नहीं करना है और परमात्मा को हम निवेदन करते हैं प्रार्थना करते हैं मेरे समस्त दुर्गुण दूर हो जाए और परमात्मा का कर्तृत्व हम वहां स्वीकार कर लेते हैं परमात्मा ही मेरे दोषों को दूर करेगा मैं तो दूर कर नहीं पा रहा हूं असहाय स्थिति में प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा का दुर्गुण दूर करने का उपाय सीधे सीधे ये नहीं है कि वो जैसे गेहूं आदि में से कंकर को उठा के अलग कर देते हैं हम ऐसे वो हमारे दुर्गुण को पकड़ करके और हमारे में से निकाल देगा परमात्मा स्वयं दुर्गुणों को दूर नहीं करता है लेकिन फिर भी वो करुणा कर है फिर भी वो दुर्गुणों को दूर करता है तो उसकी शैली उसका तरीका क्या है कि उसने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि हम अपने दुर्गुणों को दूर करने की ओर बढ़ते चलते हैं प्रकृति के दुर्गुण हो प्रकृति में गंदगी हो रोग हो हानिकारक चीजें हो उनको ठीक करने की प्रक्रिया सतत चल रही है दुर्गंध को दूर करने की प्रक्रिया सतत चल रही है हमारे शरीर में रोगों को दूर करने की प्रक्रिया सतत चल रही है मलिनता को दूर करने की प्रक्रिया सतत चल रही है आत्मा के दुर्गुण क्या हैं? आत्मा स्वयं अपने आप में तो शुद्ध है दुर्गुणों से रहित है ये शरीर के स्तर पर कुछ दोष हैं, प्रकृति के स्तर पर कुछ हैं, और फिर हमारे मन के बुद्धि के स्तर पर है जो हमारे सबसे निकट है और वही हमारे वास्तविक दोष कहलाते हैं दुर्गुण हमारे कर्मों में आते हैं शारीरिक कर्मों में आते हैं वाणी पे आते हैं और मन में विचार के स्तर पर आते हैं परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वो इतनी श्रेष्ठ दी है कि हम जब भी कोई बात गलत होगी हमें पता लगता है हमारे द्वारा कोई गलत व्यवहार होता है तो हमें पता लगता है परमात्मा स्वयं भी अंतकरण में प्रेरणा देता है और बुद्धि को भी ऐसा बना रखा है कि हमें आभास होता है ये गलत हुआ है ये हानिकारक हुआ है हमें उस दोष का पता लगना दुर्गुण का पता लगना ये दुर्गुण को दूर करने में परमात्मा की सबसे बड़ी और प्रथम सहायता है हमें बोध होता है कि ये दुर्गुण है हम अपनी अज्ञानता से उन दोषों को अपने में नहीं देखते हैं अनेक बार उन दोषों को करते रहते हैं क्रोध करते हैं झूठ बोल देते हैं चोरी कर लेते हैं लेकिन दूसरा जब हमारे प्रति करता है तो हमें तत्काल पता लगता है कि गलत है ये नहीं होना चाहिए स्वयं हमारे अंदर जो विचार आते हैं उसके साथ साथ अच्छे विचार भी होना विश्लेषण की क्षमता होना ये परमात्मा ने हमें दे रखा है और इन सब को करके परमात्मा हमारे दुर्गुणों को दूर करता है परमात्मा जो विभिन्न शरीरों में हमें भेजता है ये भी दुर्गुणों को दूर करने की प्रक्रिया है अन्य शरीरों में नए कर्म तो होते नहीं हैं नए दुर्गुण नहीं होते वहां जो भी हो रहा है चाहे एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार रहा है कि दूसरे का चारा छीन करके खा रहा है ये उनके स्वाभाविक कर्म है वैसे ही चलेंगे ये उनके दुर्गुण नहीं कहलाते कर्मों का फल वहां भोगते हुए परमात्मा हमारे दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करता है कि वहां से हम हल्के होकर के मनुष्य शरीर में आ सकें और फिर जो संस्कार हमें क्षीण करने हैं वासनाओं को क्षीण करना है वो परमात्मा के ज्ञान से दूर होते हैं तो परमात्मा ने वेद का ज्ञान भी दिया वो उसका दुर्गुण दूर करने का उपाय है परमात्मा ने प्रकृति को ऐसा बनाया कि जिसे देख करके हम अपने दुर्गुणों को पहचान सकते हैं दूसरों को देख सकते हैं दूसरों के दुर्गुण हम देख सकते हैं और दुर्गुणों से जो दुष्परिणाम उनमें आ रहे हैं इसको भी हम देख सकते हैं ये सामर्थ्य परमात्मा ने दिए ये दुर्गुणों को दूर करने की बात है कुछ धार्मिक क्षेत्र में ये कह दिया जाता है एक विशेष उद्देश्य से कि अपने दुर्गुण देखो दूसरे के गुण देखो दूसरों के दुर्गुण देखेंगे तो हानि होगी हम भी वैसे ही बन जाएंगे ये प्राथमिक स्तर पर है उन लोगों के लिए जो विवेक नहीं रखते और जैसा देखते हैं वैसा बनते चले जाते हैं अथवा दुर्गुण देखेंगे तो उसके प्रति बहुत द्वेष कर लेंगे क्रोध कर लेंगे लेकिन जो थोड़ा विवेकी हो गया है देखना तो हमें गुण और दोष दोनों हैं दूसरे के भी और हमारे भी और दूसरे के दोषों को देख करके हम बहुत सीखते हैं दूसरे की हानि को देख करके हम बहुत सीखते हैं इसने ऐसा किया और ये हानि हुई तो ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे लिए कर रखी है तो परमात्मा जो करुणा कर है वो हमारे दोषों को भी दूर करता है इस रूप में व्यवस्थाएं उसने कर रखी हैं जब हम ये कहते हैं कि हम स्वयं अपने दोषों को दूर करें हमें ही अपने दोषों को दूर करना है ठीक है लेकिन यदि परमात्मा के द्वारा दोषों को दूर करने की दी गई व्यवस्था को हटा दें तो हम दोषों को दूर नहीं कर सकते इस दृष्टि से परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है ये दे करके वो हमारे दोषों को दूर कर रहा है हमें दोषों को दूर करने में समर्थ बना रहा है तो परमात्मा करुणा कर है और हम सबका पिता है परमात्मा को जब हम पिता के रूप में देखेंगे और करुणा कर के रूप में देखेंगे तो करुणा के दोनों रूप हमारे मन में रहें कि परमात्मा दया भी कर रहा है हमारे हित की कामना से लगा हुआ है जैसे पिता लगा रहता है लेकिन उसकी दृष्टि साथ में यह भी है कि वो हमारे दोषों को भी दूर करता है और दोषों को दूर करते हुए वो हमारा सबसे अधिक हित कर रहा है और सबसे अधिक हमारे प्रति करुणा कर रहा है परमात्मा को इस रूप में मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ oh.